स्वास्थ्य का परिभाषा यही बनता है जीवन अपने जागृति को शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित करने योग्य स्थिति का नाम है स्वास्थ्य ठीक है ना ठीक है ना तो क्या इसमें स्वयं में आश्वस्त होने का आधार भी स्वास्थ्य के अर्थ में आता है क्या आश्वस्त होना है हमारा जागृति को हम प्रमाणित कर सकते हैं यह आश्वस्त होने का मतलब है यही स्वास्थ्य वर्तमान में विश्वास भविष्य के प्रति आश्वस्त यही कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का मतलब ठीक हुए और आगे बस और निकालो दूसरी परिभाषा अगर हाँ? लेंगे शरीर में आश्वस्त होने का तो हाँ। जीवन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य को वही वही जीवन और शरीर के जीवन शरीर के साथ आश्वस्त होना स्वास्थ्य है ऐसा है जीवन अपने में आश्वस्त होने का जो बात है वो प्रबुद्धता ही है संप्रभुता ही है यही बनता है स्वानुशासन उसी का नाम है नहीं तो इसका मतलब फिर यह कि इस बात से जीवन आश्वस्त है कि मेरी जो समझदारी है उसको मैं इस शरीर के माध्यम से प्रमाणित कर प्रमाणित कर सकता हूँ इसी का नाम है स्वास्थ्य हो गया बतिया बाबा हाँ? अच्छा ठीक है संयम का मतलब भी होता है बाबा तो संसार में सब नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य छह बिंदुए हैं संयम के लिए नियम से संयत है नियंत्रण से संयत है संतुलन से संयत है न्याय से संयत है और धर्म से संयत है और सत्य से संयत है ये किससे संयत रहना है रहिए संयत रहने की छह सीढ़ियां हैं आदमी के साथ इसमें से किस सीढ़ी में हम संयत रहेंगे कोई ना कोई एक सीढ़ी में संयत रहे मानव अपने काम निकाल ले जाएगा किसी सीढ़ी में यदि संयत नहीं रहेगा वो उसके बाद में पुष्प मानव के संज्ञा में या राक्षस मानव के संज्ञा में वो प्रमाणित होगा किसी भी एक सीढ़ी में ही संयत सीढ़ी में रहे संयत रहेगा तो मानवीयता मानवीयता को झेल जाएगा जबकि जबकि तो बाकी की आवश्यकता अपने आप हाँ बाकी की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ी है इससे आगे इससे आगे वो झेलने की बात आ ही जाता है तो नियम जो होता है ठीक ठीक है ना हम्म। आपको क्या बताया था ठोस ठोस के साथ तरल तरल के साथ विरल विरल के साथ हम्म। सहस्तित्व में होना ही नियम है कैसा ये नियंत्रण है है हम्म। सच्चाई है है ना तो ये, ये जैसा पदार्थावस्था प्राणावस्था में के लिए पूरक होना ही नियंत्रण है प्राणावस्था पदार्थावस्था के परस्परता में पूरकता सिद्ध प्रमाणित होना ही नियंत्रण है और जीवावस्था और ज्ञानावस्था के परस्परता में नियंत्रण मन होना ही पूरक होना ही नियंत्रण है नियंत्रण का मतलब पूरकता के अर्थ में बढ़िया है ना अच्छा जो मनुष्य मनुष्य कहाँ रहेगा भाई मनुष्य को पूछो नियम पूर्वक रहेगा तो कैसा रहेगा प्राकृतिक नियम सामाजिक नियम बौद्धिक नियम के साथ नियंत्रित रहेगा बौद्धिक नियम के नियम में नियंत्रित रहते हैं सुख की कल्पनाएं सुख की सुखपूर्ण विचार सुखपूर्ण संकल्प ये सब चीजें हमको मिलता रहेगा ठीक है फलस्वरूप ऐसा हम काम करने योग्य होते हैं ठीक है ठीक बात हो गई तो सामाजिक नियम को पालन करने से क्या होता है बदो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष विधि से जीना बन जाता है ये सामाजिक नियम का मतलब इतने ही मतलब है कोई राम कथा ना हो पुराण भागवत भी ना हो इतने में जीना सामाजिक नियम है इसमें इतने में जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता आप ही सोच लो ठीक है हो गया इसमें यदि रहते हैं तो क्या हुआ हम मानव परंपरा में नियंत्रित हो गए कितना अच्छा हो गया मानव परंपरा में परस्परता में हम नियंत्रित हो गए इसे क्या उपकार हुआ संबंधों को निर्वाह करने के अधिकार आ गया बोलो यदि ये चीज नहीं होगा संबंधों को निर्वाह करने का अधिकार कतई नहीं आना है करोड़ों वर्ष के बाद भी नहीं आना कैसा उजाला है हो खिड़की खोलने वाले <laughs> उजाला है ये ठीक है ऐसी बनती है तो इसीलिए मनुष्य को कहीं ना कहीं संयंत्र रहने की आवश्यकता है चाहे नियम पूर्वक रहो नियंत्रण पूर्वक रहो संतुलन पूर्वक रहो न्याय पूर्वक रहो धर्म बने समाधान पूर्वक रहो या शांतिपूर्वक रहो इतने ही संयम संयमता की सीढ़ियां हैं किसी एक सीढ़ी में जीना शुरू करते हैं बाकी सीढ़ियां हम मैंने पार कर ही जाते हैं ये ये बात बनता है ठीक है संयमता की मतलब समझ में आ गया